सलाम रसूल करीम अम्माबाद अल्लाह ताला हमारे इस जुड़ने और जमा होने को बहुत कबूल फरमावे हमारी हमारे नस्लों की मफफरत का हिदायत का ज़रिया बनावे बुजुर्गों इज्तमात ये दावत की मेहनत का खुलासा क्या है एक बात अपने अंदर में बिठानी है अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में अपने आखरत के बनाने ही के लिए भेजा है और कोई उनवान नहीं हम दुनिया में अपने आखरत के बनाने ही के लिए आए हैं इस बात को अपने अंदर खूब जमाना है राशिक करना है दिलों के अंदर कि हम दुनिया में फ़कत अपने आखरत के बनाने ही के लिए भेजे गए हैं और अल्लाह ताला ने जो है आखरत के बनाने के लिए दुनिया और आखरत की कामयाबी के पूरा दीन उतारा है तो ये जो है कि हमारा हर लम्हा हर लहजा अपने आखरत के बनाने में गुजरे इमाम जुर्जान रहमत को देखा कि सत्तू फाँक रहे थे सत्तू क्या समझेंगे जैसे अभी हमारे यहाँ की ज़बान में ओट होता ना ओट इजी टू ईट तो वो सत्तू फाँक रहे थे किसी ने उनसे पूछा कि आप रोटी क्यों नहीं चबाते सत्तू क्यों फाँक रहे हैं तो रोटी क्यों नहीं खाते तो उन्होंने बतलाया कि रोटी के चबाने में एक लुकमे में सत्तू के फाँकने में और एक लुकमे के चबाने में सत्तर सुबहान अल्लाह का नुकसान होता है सत्तर सुबहान अल्लाह का इसलिए चालीस साल से मैं सत्तू फाँक रहा हूँ कितना फिक्र किया अपने आखरत के बनाने की ये सब फिक्र हमें सबके ज़िम्मे है दावत की मुबारक मेहनत के ज़रिए से इसी फिक्र को लाया जा रहा है हम अपने आखरत को सामने रख के जिए हम दुनिया में फ़कत फ़कत अपनी आखिरत के बनाने ही के लिए भेजे गए हैं अल्लाह ताला ने अपने बंदों की कामयाबी के लिए अपना दीन उतारा ये फैसला अल्लाह का कि अल्लाह बंदों की कामयाबी देंगे दीन ही के रास्ते से और कोई इसका बदल नहीं है कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि दीन ही के रास्ते से बंदों को कामयाबी देंगे दुनिया की भी और आखरत की भी दुनिया की भी कामयाबी दीन के रास्ते से मिलेगी और आखिरत की कामयाबी दीन के रास्ते से मिलेगी अल्लाह ने बंदों की कामयाबी के लिए दीन उतारा है दुनिया में अल्लाह ताला हायत तयबा देंगे हायत तयबा की तफसील में उलमा बताते हैं कि चार नेमतें मिलेगी रोजी में बरकत मिलेगी बरकत वाली रोजी तो रोजी के बरकत का यह माना नहीं है कि सैलरी बढ़ जाएगी कारोबार बढ़ जाएगा कतई नहीं बरकत का यह माना है कि जो जिस जितनी चीज होगी उसे खुदा काम चलाएंगे मसले अटके नहीं रहेंगे दूध का एक प्याला खिदमत अकदस में पेश किया गया तो दूध का प्याला था तो सत्तर लोगों ने उसको पिया बहत्तर लोगों ने शेर होके पिया ये बरकत की एक मिसाल है दोस्तों कि दूध का प्याला बकेट नहीं बना बल्कि प्याला उतना ही था सत्तर बहत्तर लोगों की जरूरतों के लिए काफी हो गए बरकत की मिसाल है तेरह आदमी का खाना पकाया था खंदक के मौके पे तेरह सौ ने खाया और बाकी बचाओ तकसीम किया गया तो ये पहला इनाम मिलेगा हल्का रोजी में बरकत देंगे दूसरा इनाम अल्लाह जल शान मखलूक में महबूबियत देंगे कि जंगल के दरिंदे इनके लिए जंगल खाली करें शेर रहबरी करें ये मिसाल है तीसरा इनाम क्या होगा कि अल्लाह दिलों में इतमान देंगे दिलों में इतमान कि लोग अपने मालों में परेशान कि अपने हाल में मस्त रहेगा दिलों का इतमान बहुत बड़ी दौलत है और चौथा इनाम क्या मिलेगा कि चौथा इनाम अल्लाह दुआओं में कबूलियत देंगे लोगों के असबाब के साथ काम नहीं अटके रहेंगे <clears throat> अल्लाह जल शान उनकी दुआओं के बरकत से इनके काम चलाएंगे तो ये दुनिया में इनाम मिलेंगे और कब्र में कब्र में अल्लाह राहत देंगे और आखरत में आखरत में अपनी रजा वाली अल्लाह जन्नत देंगे ये दीन पे जो है ना अल्लाह के वादे हैं उस दीन को ये दावत इसी के कि दीन को मेहनत करके जिंदगी में लाना है मेरे दोस्तों दावत इस बात की है कि दीन हम सब की जरूरत है जिम्मेदारी है ताकि हम दुनिया आखरत की नाकामी से बचे अपनी जिम्मेदारी है तो दीन पे चलाने वाली जो ताकत है वो अंदर का यकीन है यकीन की बुनियाद पे आदमी दीन पे चलेगा जैसे गाड़ी है मर्सिडीज है टोयोटा है उसको चलाने वाली जो ताकत है वो जो है अंदर का पेट्रोल है अंदर का पेट्रोल ईंधन ऐसे ही दीन पे चलाने वाली ताकत अंदर का यकीन है आदमी यकीन के बगैर दीन पे नहीं चल सकता जिस तरह गाड़ी बगैर पेट्रोल के नहीं चल सकती अच्छा पेट्रोल अगर गाड़ी के डिक्की में 100 लीटर पेट्रोल है यानी 20-20 लीटर के पांच कैन हैं उसके कैरियर पे 20-20 लीटर के पांच कैन हैं तो 200 लीटर हो गया और टंकी खाली है 200 लीटर पेट्रोल है लेकिन टंकी खाली है गाड़ी नहीं चलेगी क्योंकि वो जगह पे नहीं है ऐसे यकीन जो है यकीन ये मेहनत करके दिलों में लाना है ये है उसका महल जब यकीन दिलों में उतरेगा दिन पे चलना उसके लिए आसान होगा हमारी दावत की मेहनत से यही चाहा जा रहा है यही लोगों में बात चलाई जा रही है कि यकीन बनाना है यकीन की बुनियाद पे आदमी दिन पे चलेगा वरना दिन पे चल ही नहीं सकता दिन पे चलने की तमन्ना भी करेगा लेकिन चूंकि अंदर में इस्ताद नहीं है इसलिए चल नहीं सकता तो अपने इतमान के लिए फिर जो है यानी बगैर यकीन के आदमी दिन पे चल नहीं सकता इसी यकीन की सारी मेहनत है दावत की इस मेहनत का कुल खुलासा है कि बंदे हम सब अपने अंदर यकीन पैदा करें यकीन अल्लाह के दीन पे हमें चलाएगा तो यकीन जो है सबसे पहला यकीन अल्लाह की ज़ात का अल्लाह की ज़ात का अल्लाह की सिफात का अल्लाह की कुदरत का अल्लाह की ताकत का अल्लाह के वादों का अल्लाह के ख़जानों का यकीन बनाना है ये पहली पहली चीज़ है यकीन ही बदले को चलाएगा तो सब पहले अल्लाह की ज़ात का यकीन अल्लाह की सिफात का यकीन अल्लाह की कुदरत का यकीन अल्लाह की ताकत का यकीन अल्लाह के वादों का यकीन अल्लाह के ख़जानों का यकीन अल्लाह की ज़ात का यकीन यह है कि अल्लाह खालिक है अल्लाह मालिक है अल्लाह राजिक है अल्लाह खालिक है अल्लाह के माँ सिवा सारी चीज़ें मखलूक है तनहा अल्लाह खालिक है तनहा अल्लाह मालिक है अल्लाह के सिवा तमाम चीज़ें अल्लाह की ममलूक है अल्लाह राजिक है अल्लाह के माँ से तमाम मखलूक अल्लाह की मरजूक है यकीन बनाना है कि दिलों के अंदर में सबसे पहले अल्लाह के ज़ात अली यकीन बनाना है अल्लाह से सब कुछ होता है अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता ला इलाहा इल्लल्लाह नफ़ा नुकसान इज्जत ज़िल्लत ज़िंदगी मौत हिफाजत हलाकत सेहत बीमारी और रिज्क और रोज़ी फ़कत फ़कत किसके कब्ज़े में बोलो एक अल्लाह के कब्ज़े में है अल्लाह के अलावा किसी कब्ज़े में कुछ नहीं इसलिए कि मखलूक अल्लाह ने बनाई है अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं अला लहुल खल्क अल अमर मखलूक अल्लाह ने बनाई है तो अमर अल्लाह ही का चलेगा अमर अल्लाह ही का चलेगा मखलूक अल्लाह ने बनाई है तो अल्लाह ही का अमर चलेगा आग नमरूद ने जलाई थी लेकिन आग ममरूद की मखलूक नहीं है मखलूक अल्लाह की थी तो उसने नमरूद की नहीं मानी अल्लाह की मानी हजरत इब्राहिम सलाम को जब आग में डाला जा रहा था तो फिर जो है अल्लाह ताला ने हुक्म दिया या नारुकूनी दऊ या नारुकूनी दऊ वो सलामन ala Ibrahim, ala, ala Ibrahim, only for Ibrahim. तो उलमा फरमाते आग आग थी उसको हुक्म था इब्राहिम सलाम पर सलामती के साथ ठंडी हो जा आग आग थी हाथों की रस्सी जल गई पैरों की रस्सी जल गई रोप जिसमें बांधा गया था वो जल गई उस रस्सी के ग्रिप में उस रस्सी के ग्रिप में गिरफ्त में जो बाल उलझे से झुलसे तक नहीं अल्लाह की कुदरत है ला इलाहा इल्लल्लाह वो अल्लाह है कि रस्सी जल रही है आग आग है रस्सी जल रही है लेकिन उस रस्सी के ग्रिप में बाल जो उलझे है ना है ये अल्लाह की ताकत है अल्लाह की कुदरत है क्यों इब्राहिम सलाम पर सलाम आग का हुक्म था ओनली फॉर इब्राहिम ये अल्लाह ताला की कुदरत है उस अल्लाह की कुदरत को उस अल्लाह की ताकत को उसकी सिफात को हमने पहचानना है उसका यकीन दिलों में उतारना है यकीन बहुत बड़ा सरमाया है अल्लाह हिफाजत करने पे का इरादा करते हिफाजत करने पे आते हैं सारी मखलूक का मकर मिलकर उसका बाल बेका नहीं कर सकती अल्लाह उजाड़ने पे आए सारी हिफाजत के नक्शे उसको बचा नहीं सकते अब रहा जो है हाथियों के लश्कर को लेके जो है काबुल्ला को ढाने के लिए आया था अब रहा उसने वो जो है दूसरा वो बनाया था काबा तो काबतुल्ला को उठाने के लिए रहा आया हाथियों का लश्कर लेकर तो मेरे दोस्तों अजीजों जाहिर के अतबार से जो मखलूक है उसमें हाथी बहुत बड़ी जसामत वाला है जो ऑब्जर्वेशन में उससे भी और बड़ी मखलूक है लेकिन जो जाहिर में जो है जो ऑब्जर्वेशन में है मुशाहदे में जो मखलूक है वो हाथी बहुत बड़ी जसामत वाले मखलूक है वो लश्कर लेके आया था तो जो है अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने उसके मुकाबले में किसको इस्तेमाल किया अबाबील परिंदों के झुंड को कहते हैं अभी भी वो काबतुल्ला के करीब मिलेंगे छोटे छोटे परिंदे छोटे परिंदे होते हैं परिंदों का झुंड अबाबिल के माने परिंदों का झुंड होता है ग्रुप तो अल्लाह ताला ने इतने बड़े हाथी के मुकाबले में वो छोटे छोटे परिंदों को लाया और क्या लाया कंकरियां ली सिजील कहते हैं समंदर के किनारे छोटी कंकरियां होती हैं वो परिंदों ने एक चोंच में और दो अपने पंजे में लाई और आके हाथियों के लश्कर पे बरसाया तो पूरा लश्कर जो है भूसा हो गया पूरा लश्कर ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने हाथियों के मुकाबले में बड़े जानवरों को नहीं लाया छोटे परिंदों को लाके छोटी छोटी कंकरियां उस पर बरसाई वो पूरा जो है हाथियों का लश्कर भूसा हो गया अलम तर कैफ फाल रब के वसाबिल फिल हजरत साहब फरमाते रहमत वो अल्लाह वो अल्लाह वो अल्लाह जो कंकरियों में जो कंकरियों में एटम की तासीर पैदा करने की कुदरत और ताकत रखता है वो अल्लाह जो कंकरियों में एटम की तासीर पैदा करने कुदरत और ताकत रखता है दुनिया के इन सारे अहमकों के बनाए हुए एटम को हमको प्याज के छिलकों से ज्यादा बेकीमत करने की कुदरत और ताकत रखता है वो अल्लाह है तासीर के डालने वाले भी अल्लाह है तासीर के खींचने वाले भी अल्लाह है ये फरमाते थे कि हमारा अपने ईमान बन जावे <coughs> अल्लाह से ताल्लुक हो जावे तो इन एटम बम के बनाने वालों के एटम बम को प्याज के छिलकों से ज्यादा बेकीमत और बेवजन करके बतावे अजीब मिसाल दी है प्याज के छिलकों की हमारी किराने की दुकान थी हम प्याज है ना साफ करते थे तो उसके छिलके होते छिलके ऊपर के तो वो छिलके हैं तो वो साफ करके रखते थे तो गोनिया भरते थे गोनिया बोरिया बैग्स तो पांच बैग छिलकों के और वो रिलेटेड है वो चूहा जो है ना वो भी किराने माल से रिलेटेड है दुकान से तो चूहे का न्यूली बॉर्न बच्चा अभी आंख नहीं खोला है उसने उस न्यूली बॉर्न बच्चे पे अभी आंख नहीं खोला है पांच बोरियां अगर जो है प्याज के छिलकों की बरसाई जावे उसकी दुम भी नहीं टूटेगी मिसाल क्या दिए प्याज के छिलकों की दुम भी नहीं टूटेगी उसकी ऐसे ही जो है अगर अल्लाह का यकीन पैदा हो जावे तो ये दुनिया के सारे मकर फरेब हमारा बाल बेका नहीं कर सकते वो अल्लाह है वो अल्लाह से अपना ताल्लुक कभी और मजबूत करना है दुनिया की ताकत हमारा बाल बेका नहीं कर सकती बच्चे जो है गोटियों से खेल रहे थे <clears throat> गोटियां होती है छोटी छोटी अब तो सारे खेल ही खत्म हो गए खेल ने सारे खत्म कर दिया अब मिसालें भी अनका हो गई है तो देहातों में है ना छोटी गोटियां होती है कांच की से बच्चे खेलते थे ऐसे छोटे छोटे छोटे छोटे बॉल होते हैं हाँ। अब क्या मिसालें देंगे कई मिसालें तो अभी खत्म हो जाएगी नई जनरेशन को तो पता नहीं चलेगा चक्की क्या होती है उन्होंने ग्राइंडर का जमाना देखा है यानी वो मिक्सर का तो बहरहाल वो जो है अब बता दे कि वो छोटे कांच की जो है ना गोटियां होती है बच्चे खेलते थे हम भी खेले अब एक ऑल इन वन आ गया है ना सब तो हाल के वो बच्चे खेल रहे थे तो साजिद नाम का जो है बच्चा था खेलने में उसका खेलने का मूड खत्म हो गया इसलिए कहते काम को खेल मत बनाओ खेलने का मूड आया तो खेले गश का मूड आया तो गश किया तो ये मूड का काम नहीं जिम्मेदारी है तो उसका खेलने का मूड खत्म हो गया तो शरारत होती है बच्चों में तो वो जो है जाना था ना उसे क्या किया सारे गोटियों को तितर बितर कर दिया यानी उसको डिस्टर्ब कर दिया और भागा घर में तो ये गुस्से में भागे तूने हमारा खेल क्यों खराब किया तुझे नहीं खेलना था चला जाता क्योंकि बच्चों में शरारत होती है तो वो जो है उसके पीछे लपके तो उसका सामने उसका मकान था वो घर में गया उसके अपने मकान में महफूज हो गया बच्चों की डिक्शनरी में माफी नहीं होती तो बदला जरूर लेते हैं घर में देखो भाई बहन लड़ते होंगे ना अब बीच में करो तो पीछे से बदला लेता है तो वो जो है कि बाहर खड़े हैं और ये अंदर से झांक रहा है वो तू बाहर आ जा तेरा हिसाब चुकाएंगे वो सब एक्स्ट्रा साइज के थे तू अंदर से झांक रहा है वो बाहर से बता रहे हैं तू बाहर आ जा तूने हमारा खेल खराब किया है वो अंदर बाहर आने की हिम्मत नहीं इतने उसके अब्बा ने कहा उसके अम्मी से कि कुछ बाजार से लाना है नहीं आदमी जा रहा है तो भाई घर की रिक्वायरमेंट तो उसके अम्मी ने कहा कि हाँ फला चीज लानी है दाल दालिया जो भी है शकर लानी है तो लाओ कैरी बैग कैरी बैग ऐसा नहीं हमारे सब कैरी बैग लेते हैं कि भाई लाओ थैली सामान लाने के लिए आप क्या तो बड़ी सोलते हैं तो कैरी बैग लेके निकला तो साजिद ने कहा अब्बा मैं भी आपके साथ चलूंगा क्या कहा तो चलो तो हाथ पकड़ के निकला किसके उसके अब्बा का उंगली पकड़ के निकला और बड़ी शान से जा रहा है सीना फुला के जा रहा है वो ऐसे दांत चबा रहे हैं ठेंगा बता रहा है मुड़ मुड़ के देख रहा है बड़ा इतमान से जा रहे क्यों क्या इतमान है क्या इतमान है अब्बा साथ है कौन साथ है अब्बा साथ है क्या मसला है हाँ। वो रब्बा साथ में रहेंगे तो क्या मसला है हमारा अगर अल्लाह साथ में है ना तो क्या मसला है क्या जंगल के दरिंदे क्या समंदर की लहरें क्या कर सकते अल्लाह साथ है थे तो। कि बड़ा अलमिया यह है हमने सबको साथ लिया रब को साथ नहीं लिया हमने सबको साथ लिया और सबसे बड़ी परेशानी की वजह यह है कि हमने अल्लाह को साथ नहीं लिया अल्लाह साथ हो गए ना अब्बा साथ है तो क्या मसला है बड़े फखर से जा रहे हैं अल्लाह साथ होगा क्या मसला है क्या संबंध का क्या जंगल के दरिंदों क्या क्या समंदर की लहरों क्या और क्या कब्र के जो है फरिश्तों का हर जगह आसानियां है क्यों अल्लाह साथ है तो यह है ये जिम्मेदारी मेहनत अल्लाह को साथ में लेने की है इसमें हम अपने आप को आमादा करें अपने आप को आमादा करें कि तकाजों पे हम चलना सीखें अपने मकाम पे मेहनत को तसलसल से करने वाले बने हमारा मेहनत तो होती है जिसको तसलसल किया जाता है मूठ पे जो काम किया जाता है वो खेल होते हैं मेहनत नहीं होती है मेहनत को हर हाल में किया जाता है हम सब नियत कर ले कि अपने मकामी अमाल के साथ अल्लाह के रास्ता खरूज भी करेंगे इन एक बुजुर्ग है किताब में वाक़ लिखा है तारीखी वाक़ है कल वाले मस्जिद में बैठे थे तो वह रईस आ गया और आके खिदमत में कहने लगा हजरत मैं कुछ आपकी खिदमत करूं खिदमत कुछ हदिया देना चाहता था मैं खिदमत करूं तो बड़ी दुआ दी अल्लाह तेरी नीयत का सवाब तुझे दे दे तेरे माल में बरकत दे तेरे इरादे को कबूल करे मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं किधर बैठा हूं अल्लाह के अल्लाह के घर में अल्लाह के गैर से मांगते हुए मुझे शर्म आती है ये कहा एक्सक्यूज किया उसको और अपने अमल में लगे रहे जिक्र तिलावत में इशराक पर के बाहर निकले वो मोहताज बाहर खड़ा था हजरत सलाम अब तो आप, आप अल्लाह के घर से बाहर आए ना अब मैं कुछ आपकी खिदमत करूं क्या जवाब दिया जवाब ये दिया कि मैं अब मैं एक से कह चुका हूं ना अब दूसरे से कहते मैं शर्म आती किसे कहा मैंने अब एक से कह दिया मैं अब दूसरे से कहते शर्म आती यह है मेहनत ऐसे मेहनत करके ऐसे बनना है हमें ऐसे बनना है कि हमारा पूरा दिल का फोकस हमारी हमारी उम्मीद फकत किससे हो अल्लाह से ऐसे बनना है मैंने हमारे यहाँ होता ना ये नहीं एक होता है कि थर्माकोल का गिलास आता है थर्माकोल के व्हाइट गिलास यहाँ भी इस्तेमाल होते हैं ना शरबत वगैरह में तो उसकी सिफत क्या होती है एयरपोर्ट पे भी रहता हूँ तो वो वो वो चाय गरम चाय कैसे होती है गर्म और बर्तन कैसा होता है ठंडा ऐसे अल्लाह वालों की मिसाल है कि चाय गर्म होते बाज दफा तो है ना मेरे प्रैक्टिकली दो मरतब मुंह से निकालनी पड़ी क्यों कि बर्तन ठंडा था चाय गर्म थी तो ऐसे बनना है मेहनत करके अल्लाह वालों की मिसाल ऐसी है कि अंदर में पक्के रहते हैं और सुलूक में कैसे होते हैं ठंडे अंदर में ला इलाहा और सुलूक में मोहम्मद और सुल्ला मेहनत करके ऐसा बनना है हमें अंदर से पूरा ताल्लुक अल्लाह से और मखलूक के साथ बहुत शफकत का मामला मोहम्मद और हमारा क्या हाल है हमारा क्या हाल है पता है हम सब ऐसे हैं स्टील के कप कैसे कप चाय ठंडी और बर्तन गर्म अंदर कुछ है नहीं और फुकट का भाव खावे मेहनत करके वैसे बनना है ये मेहनत इसी की है अल्लाह से ऐसा ताल्लुक पैदा हो जाए कि कोई निगाह में नहीं जचे अल्लाह इसकी हमें तोहफी का ताफा और दूसरा यकीन जो है अल्लाह की ज़ात का यकीन और दूसरा यकीन जो है नबी वसम की बात का यकीन अल्लाह की ज़ात का यकीन और नबी वसम की बात का यकीन कि कैसा यकीन हो कि मेरा तजुर्बा गलत मेरा इल्म गलत मेरी नज़र गलत दुनिया की सारी खबरी गलत मेरे नबी की बात गलत नहीं हो सकती ऐसा यकीन बनाना है महम्मद और रसूलुल्लाह कि अल्लाह के नबी की बात गलत नहीं हो सकती मेरा तजुर्बा गलत हो सकता है दुनिया की सारी खबरें गलत हो सकती हैं हजरत जो है वो जो है जिनके बारे में आता ना कि वो मस्जिद में बैठे तो आया कि भाई आग लग गई तुम्हारे घर जल गया कौन अबू दरदा हाँ हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तला मस्जिद में बैठे थे एक शख्स भागा भागा आया ओ अबू दरदा क्या है तुम्हारा घर जल गया मेरा घर नहीं जला दूसरा शख्स भागा भागा आया अबू दर्दा क्या हो गया तुम्हारा घर जल गया पूरे वसूख के साथ मेरा घर नहीं जला मेरा घर नहीं जला तीसरा शख्स भागा भागा आया ओ अबू दर्दा क्या है तुम्हारा घर जल गया कि मेरा घर नहीं जला यहां आगे बढ़ने से पहले एक बात समझ ले हमारे लिए है कि हर एक जो है अबू दरदा को तलाश करने कहां आ रहा था अल्लाह के घर में क्योंकि सबको पता कि अल्लाह का बंदा कहाँ मिलेगा अल्लाह के और हमें कहाँ ढूंढेंगे किसी टक शॉप में या किसी कैरम बोर्ड के अड्डे पर अलग अलग है तो जो चौथा बंदा आ गया वो कहने लगा अबू दर्दा कि क्या है आग तो शोले भड़के थे तुम्हारे घर के पास आगे बुझ गए मैं कहा ऐसा होना ही था क्या कहा ऐसा होना ही था क्यों कि मुझसे मेरे आका जनाब रसोल्ला सबने फरमाया था जो सुबह कोई दुआ पढ़ लेगा शाम तक कोई हादिसा नहीं पूछ सकता और शाम को अगर दुआ पढ़ लेगा सुबह तक कोई हादिसा मैं सुबह दुआ पढ़ चुका था नबी की बात कहकिन आगे एक जुमला जो कहा ना बहुत चुपता जुमला है तुम तीन बंदों ने आगे खबर दी कितने लोगों ने तो कितनी आंखों ने देखा छह आंखों ने देखा छह आंखों ने खबर दी कि तुम्हारा घर जल गया अल्लाह अगर छह हजार आंखें भी आके खबर देती कि तुम्हारा घर जल गया तब भी मैं तुम्हारी बात को नहीं मानूंगा मैं तुम्हारी बात को सच मानूंगा कि नबी की बात को सच मानूंगा यह यकीन मोहम्मद और रसूल अल्लाह ऐसे ही जो है हजरत इबन यासर रदी अल्लाह तला दुश्मनों के सफ में घुस जाते थे किसी का ऐसे अम्मार रहम करो तुम दुश्मनों के सफ में नंगी तलवारों के बीच में घुस जाते हो उन्होंने कहा कि क्या बात है कोई लाइफ जैकेट पहना है कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहना आपने कोई बात नहीं है तो क्या बात है बात यह है कि मुझसे मेरे आका जनाब रसोल्ला ने फरमाया था अम्मार तो दुनिया में आखिरी चीज क्या पिएगा क्या पिएगा दूध पिएगा ये मेरे नबी की खबर है एक मार्के में बैठे थे प्यास लगी पानी मांगा किसी ने लाके दूध पेश किया देखो आज हमारा आखिरी दिन है उसी मार्के में शहीद हो गए यह नबी की बात का यकीन अल्लाह की ज़ात का यकीन और नबी की बोलो बात का यकीन मेरी आंखें गलत देख सकती है मेरा तजुर्बा गलत हो जाए मैं नबी की बात गलत ये हमें बनाना है अल्लाह ताला ये यकीन हमें आता फरमावे अल्लाह यकीन हमें आता फरमावे इसकी मेहनत है इसको मांगना है अब आखिरी बात इसे लेके वक्त की किल्लत बताई है आप लोग सुबह से बैठे हैं अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमावे तो मेरे प्यारों एक यकीन बनाना है अल्लाह की ज़ात का दूसरे नबी की बात का तीसरा यकीन बनाना यह है कि अल्लाह की कुदरत से खूब समझ लो अल्लाह की ताकत से अल्लाह की सिफात से अल्लाह के ख़जाने से अल्लाह की टेररी से वाले मोहम्मद सलाम अल्लाह की ज़ात से अल्लाह की सिफात से अल्लाह की कुदरत से अल्लाह की ताकत से अल्लाह के ख़जानों से इस्तादा लेने का यानी नफ़ा हासिल करने का रास्ता आमाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है अमल में उसकी मिसाल ऐसी है कुएं में पानी है साफ है शफाफ है मीठा है कैसे लेंगे डोल और रस्सी से ऐसे अल्लाह की ज़ात है सिफात है कुदरत है खजाने हैं उसे फ़ायदा लेंगे आमाल मोहम्मद वसल्लम से उन अमलों में सबसे बाबल नमाज है तो अपनी नमाजों में मेहनत करनी है अमाल के रास्ते से हैं हम अल्लाह से लेने वाले बने हज़रत मौलाना फरमाते हैं थे कि देखो दुनिया दारो अजवाब है हम इसका इनकार नहीं करते दुनिया दारुल अजबाब है मुस्कान नहीं करते हजूर पाक के बैसत के बाद आमाल मोहम्मद वसल्लम अल्लाह की ज़ात से कुदरत से सिफा से इस्तफादे के यकीनी इसबाब है गारंटेड मीन और सब अमल में सबसे बड़ा अमल नमाज है हमें अपनी नमाजों पर मेहनत करनी है इन नमाजों के रास्ते से अल्लाह के ख़जानों को लूटना आ जावे यकीनी सबब है शैतान हमें धोखा देता है जी हजरत अनस अपने मालिक रदी अल्लाह अपने बाग में गए बाग में चले गए खादिम रसूल सलासम थे खिदमत वाले बहुत पाते हैं अल्लाह के नबी ने सलासम ने उनको दुआ दी थी अल्लाह तेरे जान में माल में जवानी में उम्र में औलाद में बरकत आता फरमाया बहुत लंबी जिंदगी पाई जवानी भी लंबी उस दुआ की बरकत से औलाद भी कसीर फजाइल सदकात में लिखा है सवा सौ दफन कर चुका हूं 125 जाहिर है कि 250 घर में बाकी होंगे जानते थे पालने वाले कौन है अल्लाह है तो अपने बाग में गए तो केयरटेकर जो था उनके बाग का जो केयरटेकर था माली उसे शिकायत की कि आप तो फुर्सत से आते हो पानी का कतरा भी नहीं बाग सूख रहा है कोई में पानी का कतरा नहीं है बाग सूख रहा है परेशान नहीं हुए एक को जानते थे अन्य को नहीं जानते थे लेने का एक ही रास्ता जानते थे मोहम्मद और उन्हें मुसल्ला बिछाया दो रखा नमाज पढ़ी और उससे कह सका आसमान पे देख कुछ नजर नहीं आता खुली खुला आसमान था चिलचिलाती धूप थी फिर दो रखा नमाज पढ़ी आसमान पे देख कुछ नजर नहीं आता फिर दो रखा नमाज पढ़ी इसको कहते हैं कि नहीं वो रिडायल करते रहे एक को जानते थे लेने का एक ही रास्ता जानते थे किसी और को नहीं जानते थे ला इलाहा और है कि भाई आमाल मोहम्मद वसल्लम तो उन्होंने फिर नमाज पढ़ी फिर नमाज पढ़ी फिर नमाज पढ़ी तो वो जो है ना कभी जो हमेशा कांटेक्ट करता है ना फोन का नंबर रिजो है तो भी खाला जान बोलती है यानी ये जो है नंबर सही नहीं है चेक द नंबर तो उसकी वो जो कैसेट की गलती है जो हमेशा कांटेक्ट करता ना कंफ्यूज नहीं होता तो जो जानते थे यकीन इस बाब सबब है तो फिर दो का नमाज पढ़ी यानी रिडायल करते रहे चौथी मरता जब नमाज पढ़ी तो कैटेगर से पूछा के देख आसमान पे कहा दूर परिंदे के पर के इतना बादल नजर आ कहीं आएगा ही बरसेगा बादल आया मूसलाधार बारिश हो गई मूसलाधार बारिश हुई अपने कैटेगर को अपना घोड़ा दिया जा देख किया क्या हाल है तो ऐसे नहीं एकड़ दो एकड़ या इतनी जमीन थी अल्लाह ने दुनिया भी बहुत दी थी औलाद भी कसीर माल भी कसीर दुनिया भी कसीर दुनिया के बड़े थे ये दीन पे लगा लगा के बहुत बड़ा यह था यहाँ से लेके तो आपके ये जो है ना लेन से लेके तो वो जॉबक तक और पूरा जो है ना बड़ी जमीन अल्लाह ने दी थी दुनिया बहुत दी थी आखिरत भी बड़ी तो जो है आखिरत कितनी बड़ी है इमाम गजाई रहमत किताब मिली पुराने रद्दे में पड़ी हुई थी हमारे साथी उठा के लाए उसमें सारे फजाइल है वर्चुअस निकाह के फजाइल है तिजारत के फजाइल है उसमें अल्लाह के दीन की मेहनत के फजाइल है दीन की मेहनत करने वालों को जिसकी पहली सब साहबा है साबिकुन अवलून तो उनको अल्लाह ताला जन्नत में मोती का महल देंगे सफेद साबित मोती वन पीस पल्स कहते हैं ना मोती को क्या कहते plus one piece not joint free नहीं वन पीस मोती का महल देंगे सोना देखा हीरा देखा हमने डायमंड मोती नहीं देखे वन पीस मोती का महल देंगे लिखा है उसमें फजाइल में उस मोती के महल में पांच हजार दरवाजे होंगे कितने हजार दरवाजे पांच हजार और हर दरवाजे पे पांच सौ हो रहे इस्तेकबाल करेगी पांच सौ हो रहे साहबा एड़े नहीं थे सियाने थे अकलमंद थे हम दुनिया में फंसे हैं डस्टबिन में फंसे हम तो सफेद मोती का महल देंगे ज्वाइंट फ्री नहीं वन पीस मोती उसमें पांच हजार दरवाजे होंगे और पांच हजार दरवाजे पे हर दरवाजे पांच सौ हो रहे जो है उससे इस्तेकबाल में खड़ी रहेगी कितनों के पांच हजार को पांच सौ से मल्टीप्लाई करो कितने होते हैं कितने होते लगा ना अभी कैलसी निकालेंगे पच्चीस लाख हो रहे होते कितने लाख पच्चीस लाख कितने मिलियन होते two and two point five हाँ या पच्चीस लाख हो रहे हैं ये बेसिक है इंक्रीमेंट अलग है पच्चीस लाख हो रहे होगी इंक्रीमेंट क्या है अपने जन्नत में जो है घूमने जाएगा सीशोर पे क्योंकि दुनिया में मेहनत में था इसको घूमने की फुर्सत नहीं थी शीशोर पे जाएगा इसका अपना शीशोर होगा तो जो है वहां जाएगा तो वहां कुब्बे होंगे नुमा कुब्बे उसको फटेंगे उसमें से आके लटक जाएगी ब्रांड न्यू पेटी पैक्ट उर्बन अतराबा वो आगे गले पड़ जाएगी और वो अनार खाने के लिए जाएगा अनार खाने जन्नत का अनार इतना बड़ा होगा किताब लिखा है कि एक उसके छिलके में एक जमात बैठेगी तो अनार फटेगा अनार में से गुलनार निकलेगी और आके गले लग जाएगी अनार खाना भूल जाएगा और गुलनार के मन मशगूल हो जाएगा ये अल्लाह की नेमतें है साहबा नादानी थे जो गुसल छोड़ के जाते थे जो निकाह छोड़ के जाते थे वो अकलमंद थे हम नादान हैं तो अल्लाह जो है जन्नत में देंगे उरुमन अतराबा यानी उसकी नजाकत ऐसी होगी वो थूकेगी तो समंदर का पानी मीठा हो जाएगा वो मुर्दे से बात करे तो जिंदा उड़ जाएगा उसकी अदाएं होंगी तो अल्लाह ने वो जन्नत दी है तो ये जो है इन्होंने जो है कैटेगर को दिया और अपना जो है घोड़ा के जा देख किया तो वापस घूम के आया कहने लगा पूरे बाग पे पानी बरसा है एक इंच भी जगह खाली नहीं है एक साल की जरूरत पूरी हो गई है ये अल्लाह के वादे हैं आमाल मोहम्मद सल्लाम अल्लाह की ज़ात से कुदरत से बेनिफिट इस्तीफा देने के यकीनी इसबाब है वो वादे क़यामत तक के लिए है अल्लाह के वादे नहीं बदलते हैं हमारे अंदर में ईमान को बनाना है अपने अमाल पे मेहनत करनी है हम अल्लाह से रास लेने वाले बन जाएंगे अल्लाह ताला वो सारे नियमतें जो साहबा को दी है ना उसके पीछे क्लास अगले ने पीछे की क्लास है यानी हम जो है हमारे ट्रेन चलती है उसमें एक फर्स्ट क्लास होता है और एक जनरल बोगी होती है तो वो साहबा पहली क्लास में है साबिक नवलून मिनल मोहजुल अंसार वो आगे आगे रहेंगे और हम जो है वही ट्रैक है वही ट्रेन है वही डेस्टिनेशन है फकत हम क्या है जनरल बोगी जनरल बोगी समझते ना जनरल बोगी यानी सादी जो है टिकट हमने सादा टिकट निकाला है लेकिन ये फरमाया कि हमारे यहाँ जब टीसी आता ना अगर आप डिफरेंस भरोगे ना तो आगे भी मिलेगी जगह तो ऐसे है कि अगर हमने थोड़ी मेहनत की अल्लाह ताला उनका उनके जैसा सवाब देंगे क्यों हम कमजोर हम हैंडीकैप है इसलिए बताया जाता है कि अल्लाह ने मौका दिया है दुनिया में कितना रहेंगे कितने गए कोरोना में जमीन के नीचे एक सुबह अल्लाह नहीं कह सकता अल्लाह ने ऊपर रखा है इसका शुक्र अदा करे दुनिया को मकसद नहीं बनाए मेरे नबी का फरमान है जब मेरी उम्मत दुनिया को बड़ी चीज समझने लगेगी इस्लाम की आजमत हैबत उसके दिलों से निकल जाएगी जब इस मेहनत को छोड़ेगी वही के बरकत से मेहनत हो जाएगी जब आपस में गाली गलौज करेगी अल्लाह की निगाह से गिर जाएगी इसलिए मेरे प्यारों अल्लाह ने मौका दिया है जिंदगी दी है ये जिंदगी अमानत है और अल्लाह ताला ने आखिरी नबी के उम्मत में पैदा फरमाकर एक जिम्मेदारी दी है दीन पे चलना भी है और पूरे आलम में दीन को फैलाना भी है उसकी मेहनत करनी है इसलिए मेरे प्यारों अजायम करे इरादे करे अपने हाल पे रहम करे अपने नस्लों पे रहम करे हाँ। अपने नस्लों पे अपने जनरेशन पे रहम करें अल्लाह ने ऐसे काम में तासीर रखी है इस मेहनत को लेके खड़े हो जाएंगे अल्लाह बातिल के तारे निज़ाम को तोड़ देगा और कोई रास्ता नहीं है इसलिए इरादे करे अजायम करे तर्जुमे के बाद कि हम सब अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे चार चार महीने के लिए और अपने आप पर एहसान समझे अल्लाह का हम निकलेंगे अपनी ज़ात पर हमारी नस्लों पर एहसान होगा हम अल्लाह के रास्ते में जाएंगे यकीन बनाएंगे यकीन बनेगा तो अल्लाह जल शानु सारे आलम को मसखर कर देंगे शेर रहबरी करेगा समंदर रास्ता देगा और अल्लाह आखिरत के इनामत देंगे सारे तर्जुमे का इरादे करे कि इन हम अल्लाह के रास्ते में चार चार में लाएंगे और तसलसल से मकाम के मेहनत करेंगे ताकि हमारा ईमान बढ़ता चला जाए बढ़ता चला जावे और हम अल्लाह से लेने वाले बने अल्लाह मुझे भी अमल की तोहफी कर So inshallah we requesting inshallah quickly brothers we do not want to delay the tashkil because 4 o'clock is azan and we have a short afternoon so who makes niyat inshallah for 4 months in the path of Allah Allah subhanahu wa ta'ala. ye, ye, ye, parliament ki सजा खड़े रहना खड़े रहना मैं Stand आपके up इकराम में खड़ा था। and give your अल्लाह name आपके नस्लों inshallah. कबूल फरमावे इंशाल्लाह मैं भी आपके And इकराम में inshallah, खड़ा the हूं। names will be given in the tashkil tent also. Brothers are waiting in the tashkil tent. Allah Ta'ala accept inshallah. For four months also. And we want also chilla jamas also to be prepared also. As soon as possible for four months in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. To Pakistan, to our elders पूरा- also. And to Bangladesh also. नाम And लिखा inshallah हुआ है। after Asr also program will take place. And after मगरिब बयान लगिन तशकील तशकील आराम भी कर ले थोड़ा असर बाद बैठना मगरिब बाद मुसकिल बयान होगा उसमें भी